मृतिका को मानते हो कि नहीं मानते हो फिर उस मृतिका से घटा गया और घट से आकाश परिचिन हो गया इधर क्या आत्मा से बिना विद्या माननी पड़ेगी फिर उस अविद्या से शरीर उपाधि पैदा हुआ उस शरीर से परिचिन जीवात्मा हुआ अतः शरीर आदि का नष्ट होने पर जीव को आकाश मिला जैसे वैसे यहाँ पर आत्मा मिले का कथन कर रहे हो फिर तो अद्वैत सिद्ध हो नहीं सकता इससे दृष्टान दाटा फिर वही गड़बड़ कर रहा है पूर्व पक्ष तब कहते बस समझाते चलो यथई घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युदय न सर्वे संप्रयुज्यंते तद्जीवा तद्जीवा सुखादि भी न प्रयुज्यंते आत्मा सर्वत्र भले एक है अद्वैत पूर्व पक्ष का कारण है अद्वैत तत्व तो नहीं है ये दो कारण है कि अविद्या को आत्मा से भी माननी पड़ेगी और अविद्या नाना मानना पड़ेगा तब तो नाना जीव होगा और सब जीवन का सुख दुख तो होंगे यदि वो आत्मा ही जीव हो गया है तो जीव एक हो गया क्यों आत्मा एक तो नाना सुखादि कैसे हो रहा तब तो उसको कहना पड़ेगा भाई घटाकाश जैसा अनंत होगा क्यों अनेक घटों के कारण से अनेक घटाकाश है यानी एक घटाकाश में आपने अग्नि रख दिया धुआं हो गया दूसरे घटाकाश में आपके रखे बिना वहां भी अग्नि धुआं दिखाई देगा क्या एक घटाकाश अग्नि धुमा से युक्त होने मात्र से सगल घटाकाश अग्नि धुमा से युक्त यथा नहीं हो जाते उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक देहात उपाध्य अवच्छिन्न होकर के जो जीव में परिकल्पित उस जीव में जैसे परिकल्पित आकाश है ना वो घटाकाश तो परिकल्पित एक आकाश आप तो सोपाल के आकाश में आप कुछ अनुभव किए वह अनुभव अन्य उपाय सोपाल के आकाश में अनुभव नहीं करते हैं ठीक उसी प्रकार यहाँ पर वही कहते यथा एक गदा आकाश जैसे एक गदा आकाश में आपने क्या देखा रजो धूमा आदि दुर्युत होते मिट्टी भरा है या धुआं हो गया कुछ हो गया कोई भी चीज ले लो न सर्वे समृद्ध लेकिन समस्त घटा आकाश वो चीज उपलब्ध नहीं होता है तद जीवा सुखादि भी उसी में एक शरीर उपाधि में जीव भाव को प्राप्त परिकल्पित जीव भाव में जो सुखादि अनुभव होता है वह जलने के समस्त उपाय उस चीज की अनुभूति होने लग जाएगी तो यहाँ पर उसी घटाकाश की तरफ समाधान हो गया क्योंकि जीव की वास्तविक उत्पत्ति है ही नहीं जैसे घटाकाश की कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं होता जीव की वास्तविक उत्पत्ति नहीं है इसे नाना जीव भी जो है नाना उपाधि वसात है वास्तव में नाना जीव भी एक जीववाद है सिर्फ एक जीव का मुक्ति से सबकी मुक्ति एक बार भी नहीं हो सकता कि एक जीव मुक्ति आप व्यवहार इसलिए नहीं कर सकते कि उपाधि भिन्नता उपाधि भिन्न होने के कारण से सर्वोपाधि तो मुक्त नहीं हो सकता ना इसलिए कहते हैं यहाँ पर दृष्टान जीवा सुखादि भी सर्वदेश आत्मा एक पूर्व पक्षी देखो शंका कर रहा है सभी देहों में इसलिए क्या हो गया आपके दृष्टान के अनुसार हमें मालूम हो रहा है जैसे महाकाश ही सभी में घटाकाश बना हुआ है घट अनेक है आकाश एक है वही महाकाश वही अनेक घटाकाश रूप में प्रतीत हो रहा है वो अनेक कहने के लिए है घटाकाश वास्तव में घटाकाश अनेक नहीं एक है तो ऐसे मान के चलते हो रिया आपत्ति खड़ा कर दिया सर्वदेश आत्मा एक सभी देहों में आत्मा को एक मान के चलोगे तो क्या होगा एक जन्म मरण सुगादि मती आत्मनी एक आत्मा में क्या होगा जन्म मरण सुख आदि का अनुभव हो गया तो नाम का संबंध सभी अन्य उपाधि वाले आत्मा में भी एक ही सभी में रह रहा है इसे सभी का अनुभव हो जाना चाहिए एक का जन्म लेने से सब का जन्म एक का मरने से ऐसा होता ही नहीं क्या करे एक के मरने से मर गए ऐसा होता ही नहीं है इन पूर्व शिकार है होना चाहिए अब होता नहीं होता तो इसलिए तो हो गया वो एक खत्म रहेगा होता नहीं है ना इसलिए मानो अद्वैत नहीं होगा नहीं एक का जन्म से सबका जन्म नहीं क्योंकि सबका डेट ऑफ बर्थ अलग है एक का मरने से सबका मरना नहीं देखा जा रहा है इसलिए मानना पड़ेगा आपको कि द्वैत है अद्वैत नहीं ये पूर्व पक्षी का आशय है क्योंकि क्रिया फल सांकर समझ मान भी लोग समझ से क्या होगी क्रिया तो भी हो जाएगी इति यह आहो द्वैतना ये जो द्वैती लोग ऐसा आशंका कर बैठते हैं तान प्रति इधम उचित उनके प्रति जवाब में ये कारिका कही जा रही है पहले आप तरफ से बोल देते हैं न यथा एक अस्मिन घटाकाश है शास्त्रार्थ बाद में करेंगे सबको लाना पड़ेगा न्याय सांख योग सबको लाना पड़ेगा अभी तो ये काम चलेगा ये कोई आत्मा को गुण मान रहा है ना और अगर आत्मा में कोई गुण भी नहीं कोई धर्म नहीं कुछ नहीं अब सब खड़े हो जाएंगे लाइन से एक के बाद एक पाएंगे कहते देखो यदा एक घटाकाश रजो दो माधुरी संयुक्त नजरे घटाकाश रजो दो माधुरी संयुज्य एक घटाकाश रज से धूम से इत्यादियों से युक्त हो जाने मात्र से ही समस्त घटाकाश आदि जैसे तद गुण रज रज से या तो धूम आदि से युक्त नहीं होते हैं तद जीवा आदि भी उधर एक उपाधि वाला जो जीवात्मा किसी प्रकार सुख दुख का अनुभव करता है जरा मरण आदि उतरे मार से दूसरे उपाधियों में रहने वाला उसका अनुभव करे यह कोई जरूरी नहीं है तो पूर्व से महाराज आपने तो कहा एक अमेर वही द्वितीय आत्मा है एक ही फिर कहा से कह रहे हो एक उपाधि में एक ने अनुभव किया तो दूसरे में दूसरा अनुभव नहीं करेगा अरे दूसरा हो तब ना अनुभव नहीं करेगा बोलोगे इसने जो अनुभव किया उसको वो अनुभव नहीं करेगा ये बात तब बनेगी जब इससे अलग हो दूसरा हो है नहीं ये आपने बताया ये कहे आत्मा बहुत बढ़िया इतना तो मान लिया तुमने मेरी एक आत्मा है अब मैं इसको सिद्ध करूंगा चलो सिद्धांत इसलिए कहता है ना नहीं बोला इसने न बोला तो सिद्धांत हानि हो जाएगा इसलिए बाढ़ ठीक कर लेकिन समझने में कमी के साथ बाढ़ तो पूर्णतः सही नहीं है तुम्हारे समझने में कुछ कमी के साथ तुम समझियो सोपारी तत्व एकता नहीं कह रहे लेकिन सोपारी में एकत्व तुम ग्रहण कर लिया ये गड़बड़ सोपारी का नाना है क्यों पता नाना तो उपाधि के नानात्व से सोपाधि भी नाना हो गए लेकिन उसको तुम वहां भी एकत्र ला रहे हो यही तुम्हारी गलती है यदि तुम इसको निर्भर विषय कह रहे हो तो बारह ये निर्भर विषय लेकर के जवाब देंगे पहले बारम फिर वो कहेगा ननु ये बारम कह रहे हो हमारे दृष्टि को आप समझे नहीं कि पूर्व पक्षी अपने चार से बोल रहा है और आप अपने दृष्टिकोण से जवाब दीजिए बारह आप तो पारमार्थिक दृष्टिकोण से कह रहे हो यदि तुम पारमार्थिक आप नहीं कह रहे हो तो ठीक कह रहे हो मैंने वो कहता है मैं उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ उपाधि के नाना को लेकर कह रहा हूँ उपाधि दृष्टि तो आत्मा अनेक है आपने एक कैसे कह दिया न स्वतंत्रया आकाश और सर्वसंघातेश एक आत्मा यथा यदि एक आत्मा तर सर्वत्र सुखी दुखी चहे देखो एकत्व उपपत्ति शून्य एकत्व जो आप कथन करने जा रहे हो उपपत्ति से शून्य क्योंकि ऐसा हम अंगीकार नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते भैया आपने कहा मैंने सुना ये बात तो सही है अगर न श्रुतम तो या अरे तुमने सुना नहीं क्या आकाश के समान सर्वसंघातों में एक ही आत्मा है यदि एक आत्मा तो कैसी कर है वेदांत एक देशी बीच में कह दिया न श्रुतम तो या आकाश और सर्व संघारेशु एक आत्मा थी बच्ची कहता है सिद्धांति के ऊपर कह रहा है अरे सिद्धांति बन रहे वेदांति मैं नहीं सुना क्या तुम्हारे दादा गुरु ने क्या बोला है यही तो तुम्हारे दादा गुरु अभी बताए आकाश के समान सकल गता जैसे उपाधियों में एक ही आकाश है उसी प्रकार सकल उपाधियों में एक ही आत्मा ये तो कह रहे तुम्हारे दादा गुरु सुने नहीं और ये उस बात को तुम मान रहे हो यदि एक ही आत्मा मान लोगे सर्वत्र की दुखी जो तो सभी उपाधियों में तो एक ही को एक के सुधन सभी सुखी हो जाएंगे एक के दो सभी दुखी हो जाएंगे एक के मुक्त सब मुक्त हो जाएंगे तो कहते हैं वेदांति पूछे महाराज आप जो शंका करने वाले पहले अपनी पहचान दो हमको अब कौन है नैयायिक हो कि शांत हो कि योगी हो मीमांसक हो कि बौद्ध हो जैन हो कौन हो तुम शंका कर खड़े हुए हो ये द्वैती हो तो तुम कुछ हो मानना पड़े हम खड़े होकर बात करते हम तो ब्रह्म हम तो कुछ नहीं है ना हमारे कोई विशेष स्वाभाविकता है ही नहीं लेकिन पूछने वाला तुम द्वैत सिद्ध करने के लिए खड़े हो इधर तो तुम द्वैती हो और द्वैती हो तो फिर नाना मान लिया तुमने अपने आप में और नानावादी हो तो तुम कौन है बताओ यदि शांति हो तुम्हारे द्वारा शंका पूछना उचित यदि चेदम सांख्य चौद्यम यदि सांख्यकार के द्वारा ये शंका किया जा रहा है तो न चेदम चौद्यम संभव फिर तो यह शंका करना संभव ही नहीं सांख्य दर्शन के आधार पर आप एकादशी शंका कर नहीं सकते कि सांख्य दर्शन में भी पुरुष तो निर्गम निरागा निरागा निर्लिप्त है उसकी तो शंका ही नहीं कर सकता एक का सुगन सबका सुखी ये सांख्य मानता ही नहीं नाना पुरुषवाद होने पर भी और नाना पुरुषों को भी वो एक पुरुष का सुखी होने पर सब पुरुष सुखी हो जाएंगे ऐसे सांख्य मानते ही नहीं सांख्य यदि वाली हो आप फिर तो आपके द्वारा शंका नाश करना संभव नहीं है नहीं सांख्य आत्म सुख दुखिता सुख दुख आदि मतम इच्छन्ति सांख्य जो है इच्छति कि सांख्य में जो पुरुष होगा वो आत्मा के अंदर सुख दुख का मत कभी मान ही नहीं सकता बुद्धि समवाय अभिगमात तो ये मानता है कहा ये सुख दुख दुखकारी बुद्धि तत्व है महत्व तत्व विद्यमान बोलता है वो आत्मा में है ही नहीं उसके मत में इसलिए एक आत्मा का सुखी होने से सरल आत्मा सुखी ये शंका तो सांख्य वाला कैसे करेगा और एक बुद्धि का सुखी होने से सर्व बुद्धि सुखी मान ही नहीं सकते क्योंकि प्रकृति ने एक बुद्धि तो पैदा नहीं की अनंत बुद्धि पैदा कर रखी है और बुद्धि में सुख दुख है इसलिए आत्मा का सुखी दुख का प्रश्न ही नहीं उठेगा सांख्य दर्शन में इधर एक दृष्टि जो शंका है सांख्य का तो कर नहीं सकते सुखा दुखा नाम बुद्धि समवाय के सुख दुख आदि बुद्धि में ही समृत होकर रहता है बुद्धि में ही विद्यमान रहने वाला वस्तु है ऐसा उन लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया है, है? क्या और अनंत हो ये कैसा होगा विरुद्ध बातें हैं वो खंडन कर देंगे वो बाद में उठाएंगे इसीलिए अभी तो उसके आत्मा का लक्षण करके व्यवहार कर रहे हैं हम जिस प्रकार वो पुरुष को सांख्य मान रहा है उस आधार पर तो वो शंका कर ही नहीं सकता क्योंकि आत्मा सुख दुख का भी नहीं मानता अब इतने बात को लेकर के नाना तो विचार नहीं है आप बाद में कहेंगे अब इतने बात को लेकर चल रहे हैं भाई आप सांख्य वाली शंका करने वाले थे बताओ कि आत्मा सुखी होता है क्या आपके मत में फिर कैसे आपने कहा एक आत्मा का सुखी होने से सभी आत्मा सुखी हो जाए शंका कहा जाए जब आत्मा सुख मानते नहीं हो अब उत्तरांश को लेकर के खंडन चल रहा है एक एक पॉइंट को कहेंगे ना एक साथ तो सारी बात तो कहीं नहीं जा सकती है न चाहे तो उपलब्धि स्वरूप आत्मा नो देखो अरे उपलब्धि स्वरूप आत्मा नो भेद कल्पना प्रमाणम मस्ती उससे भेद कल्पना में कोई प्रमाण नहीं अब आ गया उस नाना की ओर जा रहे भेदा भाव है प्रधान से पारार्थ अनुपत्ति और भेद का यदि अभाव है फिर तो प्रधान की पारार्थता नहीं हो सकती है यदि छे न पूर्व पक्षी अपना नाना पुरुषवास स्थापित करने की चेष्टा करता है कि वेदांति के हिसाब से हम चले उपलब्धि सिर्फ आत्मा हो जाएगा तो यदि उपलब्ध सर्व आत्मा है भेद कल्पना नहीं हो सकती तो भेद कल्पना नहीं होगी कि प्रकृति किसको भोग दे रही है कि उनका अपना मतलब आता है अभी फिर प्रकृति परार के लिए है पर पुरुष को भोग देने के लिए है कोई व्यवस्था बन नहीं सकती है इसलिए मुझे नारा पुरुष मानना पड़ेगा यदि चेत न ये भी आपका बात बनता नहीं है प्रधान कृत अर्थ से आत्मनिया समाया उनसे पूछो प्रधान जो सुख दे रहा है या दुख देता है या बंधन देता है या मोक्ष देता है जो प्रधान किसको दे रहा कहा दे रहा है आत्मा है क्या फिर प्रधान की परार्थता भी खंडन हो गया जिसके आधार पर हम नारा पुरस्कृत करने जा रहे थे प्रधान निरंत हो जाएगा अब यही तो, तो प्रधान की जो पारार्थता है वह नष्ट न हो इसे मुझे नाना पुरुष आना पड़ेगा प्रधान जो है किसको सुख देगा दुख देगा तो कुछ देगा ये पारार्थता सिद्ध होगी प्रधान की पारार्थता स्वरूप स्वरूप सिद्धि के लिए नाना पुरुष मानना पड़ेगा ये भी खंडन हो गया क्योंकि जो प्रधान की पारार्थता के आधार पर जो प्रधान विभिन्न सुख दुख दे रहा है क्या वो सुख दुख का भी आप पुरुष मान रहे हो यदि प्रधान पुरुष में सुख डाल नहीं सकता दुख डाल नहीं सकता सुख दुख कार्य के पुरुष को किसी भी प्रकार से कलुषित नहीं कर सकता है फिर प्रधान की पारदर्शिता कहाँ रहेगा तुम्हारा लक्षण ही गलत तो है प्रधान की पारर्थ्यता जिसके आधार पर आप नाना पुरुषार्थ खड़ा करना चाहते हैं प्रधान द्रव्य आत्मस्या आत्मनिया संवायात क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा था यदि आत्मकृत भेद नहीं पुरुषकृत भेद नहीं है तो प्रधान के पारार्थता ही नहीं हो सकता तब सिद्धांति जवाब देते हुए कहता है प्रधान कृत अर्थ प्रयोजन जो है आत्मनि असमवायात आत्मा में है यदि प्रधान ने जो बंद मोक्ष दे रहा है भोग देता है कोई आत्मा में होता आत्मा से ग्रहण कर रहा हो पर आत्मा में विद्यमान होता फिर तो निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि पुरुष भी नहीं आते सुख दुख आदि में भेजा लेकिन आत्मा वो खुद भी नहीं मानते यदि ही प्रधान कृतो बंधो मोक्ष वार्ता पुरुषेशु भेदे न संवहिती तथा प्रधान से पारार्थ्यम आत्मिकत्व नुपद्यता यदि युक्ता पुरुष भेद कल्पना यदि ऐसा होता तो पुरुष भेद कल्पना युक्त होता ऐसा होता तो यदि प्रधान कृत बंद या मोक्ष रूपी जो अर्थ है प्रयोजन है वो पुरुष में भेद पूर्वक समेत होता तो तब तो प्रधान की पारार्थता आत्मगत मान पर उत्पन्न नहीं होगा अतः पुरुष के नाम आत्म मानना जरूरी है ये आपका कहना उचित बनता है लेकिन जिसलिए प्रधान कृत बंद मोक्ष आदि आत्मा में होता नहीं अतएव पुरुष निमित्तक बहुत की कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं है पारार्थता है नहीं इसलिए प्रधान के पारार्थ का स्वरूप जो उन्होंने वर्णन किया पुरुष निमित्तक वो उचित नहीं अलग सुख दुख दिया ना है एक काला उच्छेद नहीं है ना एक कहेगा आप दुखी है तो सुखी है एक ही पुरुष है ना सभी में ऐसे कैसे हम तो ये अनुभव कर रहे हैं आप दुखी है मैं सुखी हूँ आप अज्ञानी है मैं ज्ञानी हूँ एक कालाचित अनुभव हो रहा कि नहीं हो रहा है सभी को जितने तारतम्य तो अनुभव हो रहे हैं अनंत जीवात्मा घूम रहे हैं सभी एक अच्छे में सभी का अलग अलग अनुभव हो रहा है एक अनुभव तो है नहीं सारी दुनिया में सभी एक बजे सभी एक पांच बजे उठे हैं क्या आज हम तो चार बजे उठ गए कोई पांच बजे कोई छह बजे उठा है कोई भी क्रिया कोई भी गुण कोई भी चीज सभी में एक अनुभव नहीं है एक पुरुष होते समय एक अनुभव होना चाहिए बात है ना फिर तो वही वेदांत हो गया फिर सांख्य कार रह गया पुरुष वेद का रह गया है हाँ? इसलिए क्योंकि उन्होंने क्या मान रखा है वो तो देखो तो पारा पर से कौन पुरुष के लिए मैं कुछ प्रयोजन सिद्ध कर रहा हूँ पुरुष को बंद मोक्ष में दे रहा हूँ तो फिर कैसे होगा एक पुरुष में नहीं मान सकते ना परार्थता असिद्ध हो जाएगा क्योंकि भेद जो दिख रहा है वो एक पुरुष में हो नहीं सकता है प्रकृति जो बंद मोक्ष दे रही है अलग अलग दे रही नहीं सभी को एक पुरुष है तो फिर अलग अलग कैसे देगी अनेक पुरुष में ही अलग अलग सिद्ध हो सकता है प्रदान कृत पार्थता किसको बंद दे रहे किसको मोक्ष दे रहे किसको सुख दे रहे किसको दुख दे रही है ये तभी संभव है जब अनेक पुरुष होगा एक पुरुष में प्रधान जो है सबको अलग अलग सुख दुख देगा ये नहीं हो सकता वेदांत हो सकता है तो हम कहेंगे भाई क्योंकि बुद्धि हम उपाधि मान लिया हम आता में मानते नहीं गुण मोक्ष अरे अनेक पुरुष में जरूरत ही अनेक बुद्धि से काम चलेगा वो भी इस बात को मान लेगा तो वेदांत अंतर सांख्य में अंतर है नहीं तो जो कहे तब बुद्धि में बंधन मोक्ष है मन में ही अंतकार में ही है तो वेदांत उसको हम पारार्थ मान रहे हैं तो ये स्वीकार कर लेता है फिर तो सांख्य वेदांत में कोई अंतर नहीं खत्म अंतर समाप्त हो गया फिर पुरुष भेद नहीं मान सकता एक पुरुष मानना पड़ेगा वो तो पुरुषवेद इसलिए ही मान रहा है क्योंकि प्रधान जो है अलग अलग सुख दुख मोक्ष वगैरह दे रहा है किसको बंधन दे रहा है किसको मोक्ष करा सुख दिया किसको दुख दिया किसको कुछ कर रहा है किसको कुछ कर रहा है इसलिए पुरुष भेद मानना पड़ेगा उसके बिना प्रधान जो व्यवस्था रहता है भेद पूर्वक दो बंद मोक्ष आदि दे रहा है वो नहीं हो सकता है ये उनके सिद्धांत है कुछ लोग खंडन कर रहे हैं ये पुरुषवाद में संभव नहीं बनेगा और नाना पुरुषवाद में भी संभव नहीं ये सिद्ध किया नाना पुरुष मानने पर भी प्रधान का पारदर्शिता नहीं हो सकता इसीलिए क्योंकि प्रधान में पारदता पुरुषों में तब मानी जाएगी जब प्रधान कृत जो बंद मोक्ष सुखदारी पुरुष में होगा तब ना एक तरह से तुम कह रहे हो पुरुष में बंधन नहीं मोक्ष नहीं फिर दूसरे कह रहे हो पुरुष के लिए बंद मोक्ष दे रहा है प्रधान पुरुष में बंद मोक्ष डाल भी रहा है और पुरुष में मोक्ष है भी नहीं परस्पर बदत व्याघात दोष इसे पुरुष भेद निमित्त तक प्रधान में पारार्थता और प्रधान की पारार्थता की सिद्धि के लिए पुरुष वेद मानना ये दोनों ही अव्यवस्थित हो गया और स्पष्ट करेंगे न तो सांख्य बंधो मोक्ष वार्ता तो पुरुष संवेद का विगम्यत है आ गया ना इसलिए पुरुष की जरूरत ही क्या जब तो प्रधान के द्वारा दिया हुआ बंधन या मोक्ष पुरुष में नहीं आत्मा में नहीं है तो पुरुष बांधने की क्या जरूरत वो इसलिए ही मान रहा था पुरुष इसलिए अनंत माननी पड़ेगी क्योंकि प्रधान किसी पुरुष को मोक्ष दे रहा है किसी बंधन किसको सुख किसको दुख अनेक तारतम्यता कर रहा है प्रधान तो पुरुष अनंत मानेंगे तभी तारतम्यता बनेगी ये उसका सिद्धांत था वो भंग हो गया निर्विशेष विशेष शास्त्र चेतन मात्र आत्मा गम्य वो मानते क्या है निर्विशेष है चेतन मात्र स्वरूप है आत्मा ऐसा स्वीकार कर रहे अतः पुरुष सत्ता मात्र प्रयुक्तम एवं प्रधान सपारतम सिद्धम इसलिए माननी पड़ेगी आपको पुरुष की सत्ता मात्र से ही प्रधान के अंदर पारता माननी पड़ेगी न तो पुरुष भेद प्रयुक्तम पुरुष भेद प्रतिपारण नहीं है पुरुष की सत्ता मात्र से एक आरोप हो गया पुरुष को वो प्रधान क्या है मूल प्रकृति जो प्रधान है पुरुष की सत्ता मात्र से विविधा तो विविधता को प्राप्त कर दी अनेक बुद्धि बना लिया और अनेक बुद्धियों में किसी बुद्धि में बंधन किसी बुद्धि में मोक्ष किसी में सुख किसी में दुख किसी कुछ कुछ कर दिया अपनी कार्यभूता बुद्धियों में महत्व में अनेक महत्व हो गए अनेक बुद्धि हो गई उसमें अनेक प्रकार का व्यवहार कर लिया और उस व्यवहार का आरोप कहा कर दिया एक पुरुष मानने में कोई आपत्ति नहीं गई ऐसे मानते हैं तो कोई हमें आपत्ति नहीं वेदांति लेकिन ऐसा मानने को तैयार नहीं पुरुष की सत्ता मात्र से प्रधान अनंत बुद्धि बना लिया और बुद्धि ने मन मोक्ष रखा ये नहीं मानते ना वो वो कहते पुरुष को बुद्ध मन मोक्ष दे रहा है लेकिन पुरुष में है भी नहीं मन मोक्ष उनकी ही बात है उनका ही कहना है वह पुरुष मनमोक्ष है नहीं और पुरुष को मोक्ष दे भी रहा है परस्पर विरुद्ध बात है और आरोपित मानने को तैयार नहीं वास्तविक बनने वास्तविक मोक्ष प्रदान देता है इसलिए उनका बात बनता नहीं इसलिए ये मानना पड़ेगा पुरुष की सत्ता मार्ग से प्रयुक्त प्रदान ज्ञान पारार्थता माननी पड़ेगी न तो पुरुष भेद प्रयुक्तम सिद्धम इसलिए पुरुष भेद प्रयुक्त पारार्थता नहीं ये बात माननी पड़ेगी इसके साथ एक और बात कहते हैं अतः पुरुष वेद कल्पना न प्रदान से पारार्थ में तो इसलिए पुरुषगत भेद की कल्पना करने के प्रति वो जो हेतु दे रहे थे प्रधान की पारार्थता ही हेतु है नहीं तो प्रधान के पारार्थित्व तो सिद्ध नहीं होगा यदि हम पुरुष भेद नहीं मानेंगे तो ये उनकी जो बात है उनकी ही बात उनसे ही खंडित हो जाता है तब वो कहेगा भाई जन्म आदि व्यवस्था की अनुपत्ति क्या और मानो अनंत पुरुष है जन्म मरण आदि एक आदमी जन्म ले रहा है दूसरा कोई मर रहा है एक कालाक्षेत्र नहीं देखने को मिल रहा है इसलिए आपको जो है अनेक पुरुष मानना पड़ेगा एक पुरुष मानने व्यवस्था नहीं बनेगी जन्म मरण की तो फिर वही जवाब हम पूछेंगे जन्म मरण क्या पुरुष का हो रहा है क्या पुरुष जन्म ले रहा है पुरुष मर रहा है क्या जन्म मरण है कहा ये पुरुष में है कि प्रकृति शरीर आदि में है कहा है वही युक्ति से खंडन जो युक्ति पहले किया कि वो जो पुरुष के अंदर है क्या सुख दुख बंद मोक्ष नहीं है अतः अच्छा, पुरुष मानने की जरूरत नहीं उसी तो तरह से यहां पर भी न अन्य पुरुष वेद कल्पनायाम प्रमाणम अस्थि सांख्या नाम और इस अन्य जन्म मरण आदि कोई भी हेतु उस पुरुष वेद की कल्पना में प्रमाण रूपेण सांख्यों के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जितने भी उपचार देंगे सभी में हम यही दोष देंगे वो तो पुरुष है क्या बताओ जो भी तुम मानोगे जो भेद का निमित्त है वह पुरुष होना चाहिए ना घट भेद का निमित्त जो है आप रूप ढूंढोगे परिमाण ढूंढोगे वो चीज घट में होते हैं घट का रूप है एक रक्त घट है पीत घट है अलग अलग रंग कर दो अलग अलग हो जाएगा समान आकर रक्त घट संख्या कृत भेद है एक अयम घट अपरोयम घट अपरोयम घट व्यवहार एकम दो तीन चार संख्या नंबर रख दो एक साइज वाले हो एक रंग वाले हो तब भी संख्या कृत देर क्या घट व्यवस्थित कर सकते हो क्योंकि वो संख्या घट में मानते हो जिस धर्म के आधार पर जिस वस्तु का भेद को स्वीकार करोगे वह धर्म उस वस्तु में होना चाहिए नहीं तो उसके बिना भेद सिद्ध नहीं हो सकता यदि घट में रूप नहीं होता रूपकृत घट भेद नहीं सिद्ध होगा यदि घट में परिमाण नहीं है तो परिमाण कृत भेद घट निर्मित भेद नहीं हो सकता है यदि रूप में घट में संख्या नहीं है संख्या निमित्त घट का भेद भी सिद्ध नहीं कर सकते जिस निमित्त को लेकर आप जिस वस्तु का भेद सिद्ध करोगे वह निमित्त वह वह वस्तु उस पदार्थ में होना चाहिए उसे बंद मोक्ष आदि के आधार पर पुरुष वेद मानोगे हो नहीं सकता कि पुरुष में स्वयं आप बंद मोक्ष नहीं मानते निर्गुण निराकार निर्विशेष उनके मत में जब वो है तो फिर वहां पर पुरुष वेद कैसे होगा उसके आधार पर कहते जन्म मरण आदि और जन्म मरण आदि वहां पर नहीं है वो भी शरीर में और पुरुष वो नहीं मानते इसलिए किसी भी हेतु को लेकर जो पुरुषनिष्ठ धर्म को हेतु के रूप में प्रस्तुत करके पुरुष में भेद को सिद्ध नहीं कर सकते हैं पर सत्ता मात्र में चैतन्यम चैत एतत् निमित्ती कृत्य स्वयं बद्यते मुच्यते आ गया ना असली वेदांत ला रहे इसलिए ये आपको मानना पड़ेगा सांख्यम को कि भाई परसत्ता मात्र में वचये तत् निमित्ती कृत्य पर सत्ता मातृ को निमित्त करके स्वयं ही जो प्रधान अपने आप को बंधन में डाल रहा है अपने आप को मुक्त कर ले रहा है ये बंधन और मोक्ष पुरुष में देख रहा हो आपको लगता है कि पुरुष मुक्त हो रहा है पुरुष तो नित्य मुक्त है वो मुक्त हो ही नहीं रहा कभी अंदर में था ही नहीं तो मुक्त क्या वो मुक्त कौन हुआ जिस बुद्धि में बंधन की भ्रांति थी उसी बुद्धि में मुक्ति का भ्रांति हो रहा है तो ही भ्रांति है मुक्ति भी एक भ्रांति है तो बुद्धि में लेकिन वो भ्रांति संवाद इसलिए हो गया क्योंकि पुरुष के स्वर्ग का बोध करा दिया अविवेक दूर हो गया पहले क्या था पुरुष और प्रकृति ऐक्यता तादात्व को प्राप्त करके पुरुष में ही भ्रांति हो रही थी मैं ही बंधन में हूँ अब बुद्धि में अपने अंदर मुक्ति का अनुभव जब कर लेता है तो उसमें ऐसा हो गया ये विवेक जग गया विवेक जगने से पुरुष के स्वरूप के यथार्थता बोध हो गया अनुभूति आ गई इतना ही विशेष और कुछ नहीं है मुक्ति में जन मुक्त कौन हुआ है बुद्धि हुई प्रधान ही हुआ जो स्वयं का अपने को बंधन में डाल लिया था तो इसलिए पहले दृष्टांत विचार हो चुके हैं जो चश्मा का रामानंद महाराज जी की कहानी चाहे टार्च वाला अजयपुरी जी का कहानी विचार आया ना ऐसे आप भामतिकार को देखेंगे ब्रह्म सूत्र का उसमें बताते हैं कि एक लड़की सो गई और उसके पायल आपस में जो यूं फंस गए रात्रि होता है उधर उधर करवट बदल लेंगे कहीं ऐसे फंस गया हो और सवेरे जगी तो घबरा की चलन लगी कि मेरे पैर में जो सांप बंद गया है मेरे पैर को बांध दिया गया और उसी चिल्लाहट में वो पायल कहीं से उसकी जो चांदी निकल गया तो चुप किया और चिल्लाने के मैं मर गई अब तो सर्व काट दिया और तो अब मैं मर गई और उसके चिल्लाने पर माता पिता है और देखते हैं भाई कमल उमर हटाया देखा वास्तव में है क्या देखते हैं कि भाई तो पायल से गंदा हुआ है फिर उसको देखो क्या है न सांप है न कुछ कहता है तेरे को तो वो देखती है और उसी के बुद्धि में खड़े है और केवल वहां पढ़ रहे हैं बोध का दशम स्तम सीते अनेकों दृष्टान्त है स्वयं के अंदर भ्रांति है स्वयं के आरोप हम दूसरे में कर देते पुरुष में कर दिया गया इसे स्वयं बचते मुचते च प्रधानम परश्चौपलब्ध मात्र सत्ता स्वरूप और जो पर है जिसको परार करके तुम जबस्ती कह रहे हो जिसकी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए लगा प्रदान कह रहे हो वह जो पर है वह पुरुष उपलब्ध मात्र सत्ता वाला है प्रधान प्रवृत्त हेतु तो है उसकी सत्ता स्वरूप से केवल प्रधान की प्रवृत्ति में कारण बन गया है न केनचित विशेषेण किसी अन्य विशेष निमित्त को लेकर के पुरुष प्रधान की प्रवृत्ति के प्रति कारण नहीं बनता क्यों क्योंकि वो पुरुष में कोई विशेष है ही नहीं वो तो निर्विशेष है इसलिए उसमें कोई विशेष होता तन निमित्त का भेद व्यवस्था दे सकते थे जब उसमें कोई विशेष है ही नहीं तन निमित्त भेद हो नहीं सकता अतः स्वरूप सत्ता मात्र से प्रधान में सारा हलचल हुआ है मानना पड़ेगा उनकी ही दृष्टांत देख लीजिए वास्तव में चुंबक को दृष्टांत देते हैं चुंबक के कारण से लोहा में जो है हलचल हुआ लेकिन उस लोहा में हुआ हलचल से चुंबक में क्या फर्क पड़ा कोई असर पड़ता है कि चुंबक बंधन में आ जाता है या चुंबक मुक्त हो रहा है क्या लोहों से लोह कन टुकड़े आकर के चुंबक से चिपक गए चिपक करने से क्या चुंबक बंधन में आ गया और वो लोहा हट जाए किसी ने उसको अलग कर लिया जैसे गुरु कृपा से शास्त्र कृपा से हो जाता है विवेक ऐसा यहाँ उसको विवेक कर दिया आप अलग कर दिया तो उससे क्या फर्क पड़े चुंबक में न चुंबक चिपकने से अंतर पड़ रहा है न अलग होने से अंतर पड़ेगा चुंबक में इसलिए चिपकना भी लोहे में है अलग होना भी लोहे में है न कि चुंबक में तो उनकी ही दृष्टांत सिद्ध होता है वास्तव पुरुष बंद मोक्ष है नहीं और मानते भी है पुरुष बंद मोक्ष नहीं जनमान नहीं कुछ भी नहीं है निर्विशेष है इसलिए कहते हैं कि चित विशेष न प्रधान प्रवृत्ति हेतु भगवती प्रधान की प्रवृत्ति के प्रति वह हेतु नहीं हो सकता केवल मूर्त पुरुष भेद कल्पना वेदा प्रत्यागस्ट इसलिए मानना पड़ेगा यह सांख्यों की केवल मूढ़ता मात्र ही है कि पुरुष भेद की कल्पना कर रहे हैं और वेदार को त्याग रहे हैं चलो भाई सांख्यों ने भूल कर दी नहीं आए वैशेषिक तो ठीक ठाक बोल रहे होंगे वो तो आत्म गुण मान लेते हैं ना वो तो आत्मा गुण मान रहे इसलिए उनके हाथ होगा फिर व्यवस्था बन जाएगी पुरुष भाई तो एक हाथ तो आपका अद्वैत खंडन हो जाएगा उनके हिसाब से अगर अच्छा चलो उनकी भी विचार करके देखते हैं कहा तो वो सही बोल रहे हैं एकता तो और वैशेषिका इच्छा आत्मसंवाई नहीं थी तयप्यसत ये जो वैशेषिकारी तार्किक लोग कहते हैं इच्छा गुणा आत्मा संवाय समझ से रहता है उनकी कथन भी बिल्कुल ठीक नहीं क्यों भाई उनसे पूछो वह आत्मा व्यापक है कि परिचिन्न है सारा प्रश्न डालेंगे हम आपका जो जीव जीवात्मा जो कहते हो प्रतिशर भिन्नम भाई उसकी साइज क्या है प्रतिशरीर भिन्न है, है? विभू बोलते हैं विभू बोलते कि नहीं बोलते प्रतिशरीर भिन्न है फिर भी वो व्यापक है परिचिन तो है नहीं नंबर एक दोष पकड़ में आ जाएगा यही फंसेगा मामला और दूसरी बात ये भी पूछा जाए उससे भाई आत्मा में सारे गुण रहते हैं इच्छा द्वेष सब कुछ है जब आत्मा में सहयोग होता है आत्मा में सहयोग हुआ उस समय गट आपने घट को देखा घट को देख करके वहां गए तो आत्मा संयोग हो गया तो अयंगत ज्ञान होगा लेकिन आत्मा संयोग क्या है असमय कारण ज्ञान के प्रति अन्य ज्ञान क्यों नहीं हुआ अचानक ज्ञान नहीं हुआ कह रहे इंद्रिया ने ज्ञान नहीं दिया लेकिन संस्कार तो है ना संस्कार क्यों नहीं चली सारे संस्कार इकट्ठे हो जाना चाहिए हट से आ जाना चाहिए तो आत्म आ गया ना मन है आत्म संयोग है समय कारण आत्मा भी है समय कारण है असमय कारण है निमित्त कारण भी है सारा कारण सामग्री रहते हुए भी स्मृति नहीं होती संस्कार जगते नहीं वहां इसका मतलब आत्मा में संस्कार नहीं था आत्म संस्कार है तो उसका संबंध होते कट जग जाना चाहिए वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए वह है वो समय समय से और नित्य रह रहा हो ये तो है नहीं कि आपका से बाहर के चला जाता होगा और जब आप चाहेंगे या आपके अंदर वो इच्छा जगेगी स्मृति करूं तब वो संस्कार आत्मा में आ जाते हैं ये तो है नहीं आत्मा में सदा रहेगा हम्म? क्या बात फिर वही घूमेंगे फिर अदृष्ट में क्यों नहीं आया सारे अदृष्ट क्यों नहीं वहां सारे अदृष्ट भी है ना क्योंकि अदृष्ट कहीं बाहर नहीं है निमित्त कारण इसे मैंने कहा निमित्त कारण भी है वहां अदृष्ट क्या है परमादर वो भी आत्मा को बने वो भी नहीं है अरे इसे क्या प्रमाण बनेगा कि अमुक अदृष्टि जगह क्यों जगह भाई बाकी अदृष्ट वाले तो क्यों नहीं उगे कि किसी भी अदृष्ट का भी कार्यशीलता के प्रति कारण कौन है आत्मसंयोगी कोई और कारण कोई तो नहीं और आपका नियम है असमय कारण कार्य कारण नियम असमय कारण हमेशा कार्य प्रतिकाल में रहते हैं जब असमय कारण है तो कार्य खट उत्पन्न होना ही चाहिए समय कारण में रहने पर भी उत्पन्न नहीं होगा नियत कारण के रहने पर भी उत्पन्न नहीं होगा लेकिन असमय कारण जिस क्षण आ गया कार्य उत्पन्न होना ही चाहिए और कोई रास्ता नहीं ना मिट्टी है समय कारण है घड़ा नहीं उत्पन्न हुआ कुराल बैठे है उत्पन्न नहीं होगा लेकिन जब कपाल सही हो गया उसके बाद घड़ा उत्पन्न नहीं हुआ ये नहीं कह सकते अपार दोष हो गया फिर घटत समझ बात खत्म असमयकरण आने की देरी है असमयकरण जिस क्षण उपस्थित हो जाता है उसी क्षण निश्चित रूप से कार्यक्रम हो जाए और आपके अंदर स्मृति के अंदर समय को कौन माना आपने आत्मनसंयोग को मनवा है माने आप तो आत्मनसंयोग तो है फिर क्यों नहीं स्मृति हुई आगरम भी है धर्म भी है सब कुछ है वहां पर फिर भी नहीं होता इसी व्यवस्था देने के लिए आपको कुछ और कारण मानना पड़ेगा आत्मरसयोग का समय कांड नहीं मान सकते आप अदृष्ट का समय कांड नहीं मान सकते आप इसमें उपाधिकृत दोष माननी पड़ेगी मन का अपना एक दोष है अपनी मर्जी है वो जिसको देखना चाहता है वो देखेगा अब फिर समस्या होगा फिर मन को सचेतन मानना पड़ेगा उसकी इच्छा कहाँ जाएगी मन में तो इच्छा ही नहीं आत्म इच्छा माना आपने इसलिए मन चाह भी नहीं सकता कि मैं इस समय अमुक का स्मृति करूं अमुक का स्मृति ना करूं फिर मन की मर्जी नहीं है कि मन में इच्छा है नहीं इसलिए आत्मा में जो गुण मान रहा है तब भी उसकी व्यवस्था नहीं दे सकता वही करे स्मृति हेतु तो नाम संस्कार अप्रदेशवती आत्मनी असमवाया ये आपको मानना पड़ेगा स्मृति का कारण जो समस्त संस्कार है और व्यापक आत्मा के अंदर समय समय से नहीं है ये आपको कहना पड़ेगा तो ये है तो आत्म संयोग स्मृति उत्पत्ति है आत्मा से होती ही बराबर स्मृति उत्पन्न होनी चाहिए स्मृति नियमन उपत्ति और दूसरा स्मृति में नियम भी नहीं बन पाएगा पहला अमुक का स्मृति भी बाद में क्योंकि बाद में उसका होगा बाद में उसका कोई नियम नहीं सारे संस्कार इकट्ठे हैं सारे एक साथ होना चाहिए युगपत तो होना चाहिए युगपत तो वाचन स्मृति उत्पत्ति प्रसंग हाँ, वो भी और स्पष्ट कर दिया एक तो नियम नहीं दे सकते पर यानी कि आपने जैसा अनुभव का क्रम है उसी क्रम से स्मृति होती है क्या है अनुभव के क्रमानुसार क्रम होगा संस्कार के क्रम और संस्कार क्रमानुसार स्मृति क्रम ऐसा तो किसको देखने का नहीं मिला जब चाहे तब जो चाहे तो स्मृति हो जाते हैं पता नहीं उठपटांग कई चीजें ऐसे है कि कब अनुभव किया नहीं भी चाहते तो स्मृति आ जाती उसके संस्कार से अनुभव तो किए हैं पहले और उसको स्मरण नहीं करना चाहते हो फिर भी हो जाती स्मृति अभी क्रम तो है नहीं किसी चीज की स्मृति का और कई बार जिसको स्मरण करना चाह रहे हो नहीं आता यदि आपका में उसका संस्कार है और आपका इच्छा कर रही है मैं इसको स्मृति करूं और संस्कार उसका है क्यों पढ़े तो ही हो कहीं याद नहीं आता संस्कार भी है आत्म संयोग भी हो रहा है आत्म इच्छा भी हो रही है सब कुछ है और युगपत होना एक और आपत्ति तो नियम नहीं क्रम का और दूसरा युगपथ हो जाना चाहिए सारे संस्कार वापस इकट्ठे विद्यमान है आत्म समय कारण आ गया समय कारण है निमित्त कारण अदृष्ट अगर धर्म अधर्म सब कुछ वहां पर है सभी संस्कार का निमित्त हर सारी चीज वहां है विद्यमान फिर भी उत्पन्न नहीं हो रहा तब वो कहेगा ऐसा है भिन्न भिन्न जाति वाले है ना वो सजातीय और विजातीय को लेकर देखना पड़ेगा ना सजातीय अनुभव के लिए कारण चाहिए आदर्श आत्म संयोग संस्कार को लेकर स्मृति को उत्पन्न करने के प्रति कारण बनता है तारस आत्म संयोग में अंतर करेगा संयोग जाति में अलग रहेगा जैसे भाई दो मल्लों का संयोग है दो मेषों का संयोग है अनेक मामला है घट और रज्जू घड़े में रसी गले में बांध करके छोड़ते भी नहीं छोड़ते हो बाल्टी वगैरह छोड़ देते हो पानी खेचने के लिए कुआ में वहां क्या हो रहा है और सिया घड़े का विजातीय संयोग हो रहा है हाँ, हर से अलग अलग है जो दो मल का संयोग से पानी थोड़ी आएगा है उधर तो रज्जुगट संयोग अलग है दो मल्लों लोगों का संयोग अलग है संयोग है ऐसा होना चाहिए पानी आ जाना चाहिए कुआ से दो मल को भिड़ा दो कुआ से पानी आ जाए ऐसे कैसे होगा ये संयोग अलग है वो संयोग अलग है सब संयोग अलग अलग है वैसे ही आत्म संयोग में भी अलग अलग आत्म संयोग अनेक प्रकार का आत्मन संयोग इच्छा के अनुकूल आत्मन संयोग अलग है ज्ञान के अनुकूल आत्मन संयोग अलग है सारे आत्मन संयोग भी अलग अलग है यादृश्यात्म संयोग मन संयोग है तादृश कार्य होगा ऐसे काम दे देंगे कभी ये भी नहीं हो सकता न च भिन्न जाति स्पर्शादिहीना नाम आत्मा मन आदि भी संबंध युक्त ऐसा भी नहीं कह सकते आप तो तब हो सकता है कि स्पर्शवान वस्तु नीचे मूर्त पदार्थ में घटे हुए मामला कि जितना दृष्टान संयोग में कृत भेद सही होने के बावजूद भी प्रत्येक संयोग अलग अलग है ये सिद्ध करोगे किस आधार पर स्पर्शवान द्रव्यो में अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु चार में ही इन चार में ही संयोग कृत कृत भेद भिन्न जातीयता को लेकर संयोग में भेद को सिद्ध कर सकते हैं और ये आत्मा कैसा है स्पर्शवान द्रव्य क्या मूर्त द्रव्य क्या फिर इसलिए कहते हैं भिन्न जातियों को लेकर के स्पर्शादिहीनों के अंदर ऐसा आत्मा में मनादि के साथ संयुक्त भेद संबंध मानना चाहो तो वो न युक्त वो हो नहीं सकता और दूसरी बात वो आत्मा से गुण अलग है कि नहीं है द्रव्य से गुण अलग है या नहीं बताओ आप समय समय से नित्य कहा है समय समय नित्य संबंध है ना उसके भी खंडन करना जरूरी है ये भी हमें सिद्ध करना है वास्तव में आत्मा में इच्छा जाना जी होता ही और उसकी ओर जा रहे मानने पर आपत्ति दे दिया और हो, भी नहीं सकता है वास्तव तुम मान रहे हो भले मानने पर तो आपत्तियां दे दी तो इसके आधार पर सबसे बड़ी आपत्ति यह है स्मृति उत्पन्न होनी चाहिए और वो भी युगपथ सारी स्मृति होनी चाहिए न युगपथ होता है न नियमित रूप से होता है बल्कि होता ही नहीं ज्ञान काल में स्मृति नहीं स्मृति काल में ज्ञान नहीं यह विचार स्पष्ट ही है असमय कारण रहते हुए कार्य नहीं है नहीं जब आपको जो सुख हो रहा है तो दुख नहीं हो रहा है आत्मा में जबकि उसकी भी असमय कारण आत्मा में बैठा हुआ है सब परस्पर विचारी कार्य हो जाएंगे नियमाभाव वो तो कह रहे आप कहते हैं वास्तव में आत्मा में गुण हो भी नहीं सकता आत्मा में क्या द्रव्य नहीं, नहीं हो सकता कैसे कि द्रव्याद रूपादेव गुणा कर्म सामान्य विशेष सवायावा भिन्ना संति न संति मत है वेदांत मत है वेदांति के मत में द्रव्य से द्रव्या रूपाय गुणा कर्म सन विशेष समय वहाँ भिन्ना न संति तादात में आरोप है ना हमारा भिन्न नहीं मानते वो तो भिन्न मान रहे और भिन्न मानकर तो उनमें संबंध भी मानना पड़ेगा और संबंध भी नित्य मानोगे ये सब असंभव दोष है और हमारे यहाँ तो है नहीं होता है आरोप समझ से मानते इसलिए इसलिए तो परेशान के प्रतिपन्नी सार परिचय वेदांति राम मत है नक्षत्र व्याद रूपाधि गुणा कर्म सार विशेष समय गुण हो चाहे कर्म हो चाहे सामान्य है विशेष है समवाय है कोई भी चीज है वो द्रव्य से वास्तव भिन्न हो नहीं सकते द्रव्य कल्पित है ना अधिष्ठान से भिन्न होता है क्या कल्पित वस्तु सर्प सर्प जो रज्जु से भिन्न हो जाए फिर तो मुसीबत खड़ा हो जाएगा आपको उसको कैसे दूर करोगे फिर मिटाओगे कैसे रज्जु का ज्ञान होने से तो मिटेगा ही नहीं वो क्यों और रज्जु सर्प है रज्जु से सर्प अलग हो जाए अधिष्ठान से बिना आरोपित वस्तु अलग रह जाए फिर तो अधिष्ठान का ज्ञान होने से आरोपित वस्तु तो मिटेगा नहीं तो मुक्ति कैसे होगी और सर्व का भय आदि दूर कैसे होगा रज्जु का ज्ञान से नायम सर्प यम रज्जु हो ज्ञान होने से सर्प भाई दूर हो गया कैसे हो गया इसे साबित होता है अधिष्ठान से भिन्न हो नहीं सकता फिर अधिष्ठान में है भी नहीं पारमार्थिक दृष्टिया अतो अंकत तो आरोपित गुण भी आरोपित कर्म सामान विषय समय जो भी कहो सब अवसात्मा में परिकल्पित हम तो द्रव्य का लक्षण करके समय कारण अरे तुम्हारा लक्षण है वो हमारा लक्षण नहीं है द्रव्य समय कारण जो कह देते हो समय कारण द्रव्य का लक्षण है पहले उसने कर दिया द्रव्य तत्व बनी नहीं लक्ष्यता भिन्न नहीं रहा लक्षण अतः दोष आ गया पहले गुणवत्तम वो भी उत्पन्नम क्षण द्रव्यम में गड़बड़ा गया तो तब तीसरे लक्षण है समय गायनम कभी ये भी नहीं बन सकता क्योंकि अपूर्व मन परम वेद कहता है आत्मा को द्रव्य मानोगे उसका कार्य कारण होगा नहीं तो कारण तो कहा से लाओगे कभी मारे आपकी आत्मा द्रव्य नहीं है क्या अरे हमने कहा का द्रव्य नहीं हम मानते हैं आत्मा को द्रव्य हमारा तो एक ही द्रव्य है संसार कर में वो तो आत्मा है ब्रह्म है फिर आपका लक्षण क्या होगा उस द्रव्य का सुनो स्वतंत्र सन्मात्र द्रव्याम एकांत स्वतंत्रम सन्मात्र द्रव्यम द्रव्य शब्द है ना त्रयोक्षितम जो स्वतंत्र है और सतमात्र स्वरूप सच्चिदानंद रूप है जो उसी का नाम द्रव्य ब्रह्म तो आत्मा ये हमारा एक लक्षण है और वो लक्षण सभी में चला जाएगा तुम्हारी में भी है कोई दिक्कत नहीं हमको क्यों वो पृथ्वी का है तुम्हारी हमारे आत्मा में ताजा में तो आत्मा ताकत तो होने से वो आत्मा का धर्म आरोपित हो जाएगा इसलिए आदि व्यवहार हो जाता है दस नंबर टिप्पण देखिए बहुत सुंदर समझाया नाम द्रव्याद रूपादे द्रव्यम अपता द्रव्य गुणादि भेद अप्युपगत एवं भवती अच्छा, आपने एक बात कह दी आपने मत बताते बताते द्रव्य से ये भिन्न जो गुणादि है भिन्नता माननी पड़ेगी द्रव्यात पंचयुक्त